वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए अगर वो तुम पर दस्तरस पालेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्त तुम कभी फलाह नहीं पाओगे और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि खुदा का वादा सच्चा है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 और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की रोईदगी मिल गई फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं और खुदा तो हर चीज पर कुदरत रखता है माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं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 और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता और जिस दिन खुदा फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी नस्बत तुम गुमान उलूहियत रखते थे बुलाओ तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे और हम उनके बीच में एक हलाकत की जगह बना देंगे और गुनाहगार लोग दोजख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता न पाएंगे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 कि लोगों को खुदा की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं और जो काफिर हैं वो बातिल की सनत से झगड़ा करते हैं ताकि उससे हक को फुसला दें और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है हंसी बना लिया और उससे जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार के कलाम से समझाया गया तो उसने उससे मुंह फेर लिया और जो आमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें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 कि उसमें नकद लगा सके बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो इसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रुए जमीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे और उस रोज जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो हमारे बंदों को हमारे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है कह दो कि हम तुम्हें बताएं जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं वो लोग जिनकी सही दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया